चार दिनों की चर्चाओं के संबंध में बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे हो गए आज ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों पर चर्चा कर सकूं ऐसी कोशिश करूंगा और इसलिए बहुत थोड़े में उत्तर देना चाहूंगा एक मित्र ने पूछा है कि क्या आप प्रच्छन्न साम्यवादी हैं प्रसन्न होने की कोई जरूरत नहीं मैं स्पष्ट ही साम्यवादी हूं किसने कहा कि प्रसन्न साम्यवादी हूं मेरी दृष्टि में जो भी आदमी धार्मिक है वो साम्यवादी हुए बिना नहीं रह सकता सिर्फ अधार्मिक आदमी साम्यवादी हुए बिना रह सकता है इस व्यक्ति को भी ये ख्याल है कि सबके भीतर एक ही परमात्मा का बात है वो ये मानने को राजी नहीं हो सकता कि समाज में अर्थ की इतनी असमानताएं हो इतनी गरीबी इतनी अमीरी इतने फासले हो वो ये भी मानने को राजी नहीं हो सकता कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को विकास का समान अवसर न मिल सके साम्यवाद का एक ही अर्थ है कि हम प्रत्येक मनुष्य को बराबर मूल्य देना चाहते हैं और उसके जीवन की जो छुपी संभावनाएं हैं उनके विकास का बराबर अवसर देना चाहते हैं बुद्ध या महावीर या क्राइस्ट और लाउट से उन कभी साम्यवादी शब्द सुना भी नहीं होगा लेकिन मेरी दृष्टि में वे सभी कम्युनिस्ट थे दुनिया का कोई भी अच्छा आदमी कभी भी कम्युनिस्ट न रहा हो ऐसा होना मुश्किल है असंभव उन सबके मन में एक ही कामना है कि सारी मनुष्यता समान तल पर कैसे पहुंच सके उन्होंने आत्मा की समानता की घोषणा की कि एक एक व्यक्ति के भीतर बराबर समान स्तर की समान मूल्य की आत्मा है समान मूल्य का परमात्मा है लेकिन वो घोषणा जट चली गई क्योंकि जब तक आर्थिक परिस्थितियां समान न हो आत्मा की समानता को तय करना बहुत मुश्किल है और जब तक बाहर की समानता की सुविधा ना हो भीतर की समानता सिर्फ शब्द रह जाती है क्राइस्ट और बुद्ध और महावीर और लाओस से हार गए चिल्लाकर क्योंकि बाहर की परिस्थितियां बिल्कुल ही असाम्यवादी हैं असमानता की है तो भीतर की समानता की बात सिर्फ शास्त्रों में रह जाती है मुझे लगता है कि आने वाली दुनिया में हम बाहर के जीवन की सारी असमानताओं को मिटा सकेंगे और तभी पृथ्वी पर पहली बार ठीक धार्मिक संसार का निर्माण होगा उसके पहले नहीं जब तक समता स्थापित नहीं होगी तब तक भीतर के समान परमात्मा का अनुभव भी बहुत मुश्किल है और ये भी मेरी दृष्टि है कि जब तक गरीबी नहीं मिलती तब तक गरीब आदमी परमात्मा की तरफ वस्तुता उत्सुक भी नहीं हो सकता है एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि उनके कोई मित्र गरीब है वे भी ईश्वर को पाना चाहते हैं लेकिन रोटी रोटी की तकलीफ नहीं पड़े रहते क्या वे भी ईश्वर को पा सकते हैं ये सवाल ही कितना दुखद है और कितना पीड़ादायी है एक आदमी ईश्वर को पाना चाहे लेकिन रोटी रोजी कमाने में ही जीवन गमा देना पड़े और फिर भी वो न मिल पाए ऐसा हमने कुरु ऐसा हमने अजीब सा समाज निर्मित किया है कि कोई ईश्वर की खोज भी करने चला जाए जाना चाहे तो रोटी जैसी छोटी चीज बाधा बन जाए निश्चित ही रोटी बाधा बन सकती है जीसस ने कहा है man can not live by bread alone आदमी अकेली रोटी पर नहीं रह सकता इसके साथ एक बात और जोड़ देनी जरूरी है कि आदमी रोटी के बिना भी नहीं जी सकता अकेली रोटी भी काफी नहीं है रोटी मिलते ही और आवश्यकताएं शुरू हो जाती हैं लेकिन अगर रोटी ना मिले तो सब आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं और आदमी को बिल्कुल शरीर के तल पर जीना पड़ता है गरीब आदमी का सबसे बड़ा दुख है कि वो शरीर के तल के अतिरिक्त और कहीं जीने की रास्ता नहीं पाता गरीब आदमी को सबसे बड़ी मजबूरी है कि उसे शरीर के आसपास ही जीना पड़ता है क्योंकि जहां जरूरत है अगर पैर में कांटा गड़ा है तो सारी आत्मा पैर के कांटे के पास ही इकट्ठी हो जाती है सारी चेतना सारी कॉन्सियसनेस पैर के कांटे में उलझ जाती सारा शरीर भूल जाता है बस वो कांटा ही दृष्टि में और ज्ञान में रह जाता है उस समय कांटा ही परमात्मा हो जाता है गरीब आदमी की बड़ी गरीबी उसके धन की कमी नहीं है मकान की कमी नहीं है बड़ी गरीबी यह है कि उसे मजबूरी में शरीर के आसपास ही जीना पड़ता है कपड़े नहीं है खाना नहीं है बच्चा बीमार है दवा नहीं है और हमने जो समाज बनाया है उसमें अधिक लोगों को हम ईश्वर की तरफ जाने का कोई मौका नहीं छोड़े दुनिया से गरीबी मिटे तो ही दुनिया में ईश्वर की खोज व्यापक पैमाने पर हो सकती है दुनिया से गरीबी मिटे तो हर आदमी के लिए ईश्वर एक प्यास बन ही जाएगी क्योंकि तब छोटी प्यासें पूरी हो जाएंगी और जैसे ही छोटी क्या प्यासें पूरी हो जाती हैं छोटी जरूरतें निपट जाती हैं बड़ी जरूरतें जिंदगी में पैदा होती हैं जैसे ही शरीर का काम तृप्त हो जाता है वैसे ही आत्मा की यात्रा शुरू होती है मैं कहूंगा उन मित्र से जिन्होंने पूछा है कि वो गरीब आदमी क्या करे ईश्वर को पाने के लिए बहुत मुश्किल बताना मालूम पड़ता है कि गरीब आदमी ईश्वर को तो पाने के लिए जाता ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी कहे कि एक बीमार आदमी भी कुश्ती लड़ना चाहता है वो बीमार आदमी कुश्ती लड़ने के लिए क्या करे वो बीमार आदमी शरीर से बीमार है वही तो अड़चन बन गई है उसकी गरीब आदमी की भी वही अड़चन बन गई है वो शरीर के तल पर बिल्कुल असमर्थ है वो असमर्थता इतनी ज्यादा है तो उसे पूरा करना पहले जरूरी है तभी पीछे उसकी कोई और आकांक्षा पैदा हो सकती है और अगर गरीब आदमी भगवान की खोज में भी जाए अगर वो मंदिर में हाथ जोड़ के भी खड़ा हो और हम उसके हृदय को खोल सके तो हम पाएंगे वहां प्यास परमात्मा की नहीं है वहां हाथ जोड़ के वो फिर रोटी मांग रहा है नौकरी मांग रहा है कपड़े मांग रहा है भगवान के सामने भी वो भगवान के लिए नहीं जा सकता उसकी जरूरतें बहुत नीचे की है और इसमें वो कसूरवार नहीं है इसमें हम सब जिम्मेवार हैं इसमें हमारा पूरा समाज जिम्मेवार है हम कुछ लोगों को गरीब होने के लिए मजबूर किए हैं और हमने जो व्यवस्था चुनी है वह ऐसी है कि उसमें कुछ लोग अनिवार्य रूप से अमीर हो जाएंगे और अधिक लोग अनिवार्य रूप से गरीब हो जाएंगे और जो अमीर होंगे उनका अमीर होना गरीबों के गरीब होने पर ही निर्भर होगा यहाँ जितनी गरीबी बढ़ती जाएगी वहां उतनी अमीरी बढ़ती जाएगी ये व्यवस्था एकदम अवैज्ञानिक आधार में पापपूर्ण इस पापपूर्ण व्यवस्था को तोड़ना जरूरी लेकिन वो मित्र तो पूछेंगे कि मैं तो अभी गरीब हूँ ये व्यवस्था कब टूटेगी और कब ये व्यवस्था बदलेगी मैं क्या करूं उनसे इतना ही कह सकता हूं अगर सच में उनके मन में ईश्वर की प्यास पैदा हो गई है तो मैं तीन दिनों में जिन सूत्रों की बात कहा हूं आज सुबह विशेषकर जिन तीन सूत्रों की बात कहा हूं उन पर थोड़े प्रयोग करें कठिन होगा लेकिन अगर संकल्प मजबूत हो तो शरीर की जरूरतों को भूला जा सकता है और भीतर प्रवेश किया जा सकता है हालांकि बहुत कठिन उपनिषद में एक कथा है उद्दालक ऋषि का बेटा गुरु के आश्रम से शिक्षा पाके वापस लौटा है गुरु के आश्रम में उसने वेदांत की ऊंची ऊंची बातें सीखी ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं सुनी वो घर आया और जैसे कि युवक ज्ञान से भरे हुए घर लौटते हैं विश्वविद्यालय से ऐसा ही विश्वविद्यालय से ज्ञान से भरा हुआ घर लौटा घर आकर उसने सुबह शाम ज्ञान की बात ही शुरू कर दी वो जब भी बात उसकी ब्रह्म की बात ले आता उसका पिता बहुत हंसता उस बेटे ने पूछा आप हंसते क्यों उसने कहा कि थोड़े दिन बाद तुम्हें बताऊंगा तुम पंद्रह दिन का उपवास कर लो उसके बेटे ने कहा कि किस लिए उसके बाद ने कहा कुछ जरूरी बात तुम्हें बतानी है इसलिए उपवास करना जरूरी है उस बेटे ने उपवास किया तीन दिन की भूख के बाद उसका बाप उससे पूछता कभी क्या सोच रहे हो वो कहता सिवाय भूख के और कुछ सोच में नहीं आता सिर्फ रोटी ही रोटी ख्याल में आती सात दिन बीत गए बाप पूछता क्या सोच रहे हो फिर पंद्रह दिन बीत गए बाप ने कई बार पूछा एक दफे उसने नहीं कहा कि ब्रह्म का विचार कर रहा हूं पंद्रह दिन तो वो गुस्से में आ गया कि क्या बार बार पूछते हैं क्या सोच रहा हूं सिवाय भूख के और कुछ भी नहीं सोच रहा हूं सिवाय रोटी के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता उसके पिता ने कहा ब्रह्म का कोई विचार नहीं आता उसके बेटे ने कहा ब्रह्म पंद्रह दिन से कोई भी स्मरण नहीं तो उसके बाप ने कहा मैं तुझे एक शिक्षा देना चाहता हूं अन्न पहला क्रम पहली जरूरत पूरी ना हो तो ऊपर की बात सब जाए तीन दिन खाना खाया है फिर ब्रह्मज्ञान वापस लौट आया है इसका यह मतलब नहीं है कि ब्रह्मज्ञान झूठा है इसका कुल मतलब इतना है कि जीवन चेतना पहली बुनियादी जरूरतों को पहले पूरा करती है फिर बाद की जरूरतें हैं ऊंची जरूरतें हैं हम एक मंदिर बनाते हैं तो हम नींव के पत्थर पहले रखते हैं पहले शिखर नहीं बनाते पहले शिखर बनाने का क्या अर्थ है न्यू के पत्थर पहले रखते हैं हालांकि न्यू जमीन में दब जाएगी कोई देखने नहीं आएगा कोई मंदिर बनाने वाला सोच सकता है कि न्यू के पत्थर क्यों भर में इसे तो कोई देखने आता नहीं है न्यू जमीन में दब जाएगी लेकिन उसी पर पूरा मंदिर खड़ा होगा और न्यू के पत्थर ही अगर कमजोर हो या न हो तो शिखर के खड़े होने की कोई उम्मीद नहीं है शरीर बुनियाद है मनुष्य के जीवन की आत्मा शिखर है शरीर ही मुश्किल में पड़ा हो तो शिखर की तरफ जाना बहुत तो मुश्किल हो जाता है लेकिन सामूहिक रूप से तो बहुत मुश्किल है कि गरीब समाज धार्मिक हो सके लेकिन एक एक व्यक्ति के तल पर चेष्टा की जा सकती है लेकिन बड़ा श्रम लगेगा व्यर्थ श्रम लगेगा और वो श्रम ये होगा कि शरीर को थोड़ा विस्मरण करने की जरूरत पड़ेगी रोज की सामान्य जरूरतों को घंटे भर के लिए कम से कम भूल जाने की चेष्टा करनी पड़ेगी मुश्किल पड़ेगी ये बात धनी को भूल जाना बहुत सुलभ है और इसीलिए महावीर और राजाओं के बेटे सहज ही साधना की गहराइयों में जा सके सहज ही आज अमेरिका में संभावना है रूस में भी कल संभावना है कि धर्म का एक बिल्कुल नवोत्थान हो जाए और उसका कारण यह कि सब जरूरतें पूरी हो गई आदमी पूछता है शरीर की सब जरूरतें पूरी हुई अब क्या और अब पहली दफा उसे लगता है और कोई नई दिशा मिलनी चाहिए जीवन की चेतना जहां विकास करे लेकिन व्यक्तिगत रूप से गरीब से गरीब आदमी भी परमात्मा की तरफ जा सकता है सामूहिक रूप से नहीं जाने में संकल्प की जरूरत पड़ेगी जाने में ध्यान रखना पड़ेगा भूख का भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर भूख भी पेट में है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि भूख मुझे है या मैं भूख को जान रहा हूं इस पर थोड़े श्रम उठाने पड़ेंगे थोड़ी साधना करनी पड़ेगी जीवन की छोटी छोटी जरूरतें मेरे बाहर हैं पूरी नहीं हो रही है तकलीफ है उनका दल है घाव है वो घाव मुझको ही लग रहा है या मैं अलग हूं कठिन होगा स्वस्थ शरीर में शरीर को भूल जाना बहुत आसान है बीमार शरीर में शरीर को भूलना थोड़ा मुश्किल है लेकिन भूला जा सकता है शरीर से ऊपर उठा जा सकता है दुख में भी हम जाग सकते हैं सुख में भी जाग सकते हैं दुख में भी हम जान सकते हैं कि दुख बाहर है सुख में भी जान सकते हैं सुख बाहर है और मैं पृथक हूँ और एक ही स्मरण आ जाए कि मैं पृथक हूँ तो जीवन में धर्म की शुरुआत हो जाती है नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई आदमी को धार्मिक बनना हो तो पहले वो धन कमाने की यात्रा पर निकल जाए ये मैं नहीं कह रहा हूं न मैं ये कह रहा हूं कि पहले वो सम्राट हो जाए तब धार्मिक हो सकेगा मैं समाज के तल पर जरूरत की बात कर रहा हूं कि गरीब समाज का धार्मिक होना कभी नहीं मुश्किल है गरीब व्यक्ति हो भी सकता है सिकंदर हिंदुस्तान की तरफ आता जीतने निकला था सारी दुनिया को रास्ते में यूनान छूटता था तब किसी ने खबर दी कि पास ही एक नदी के तट पर एक डायोजनी फकीर है नग्न रहता है सुना है सिकंदर कभी उसके बाबत लोग कहते हैं कि बड़े से बड़े सम्राट भी उसके सामने फीके सिकंदर ने कहा क्या क्या है उस फकीर के पास उन लोगों ने कहा यही मजे की बात है उसके पास कुछ भी नहीं है एकदम नग्न नदी के तट पर वो पड़ा है सिकंदर ने कहा फिर मैं उसे देखना चाहूंगा सिकंदर गया है सुबह का समय है धूप निकली है सर्दी के दिन है नंगा डायोजनी लेटा है रेत में सिकंदर जाके खड़ा हो गया है और डायोजनी से उसने कहा है आपके पास कुछ भी नहीं है और आप इतने आनंद से लेटे हुए डायोजनी ने कहा तुम्हारे पास सब कुछ है तुम आनंद में हो सिकंदर एक बार संदेह में खड़ा रह गया कहा हंस के कि ठीक कहते हो सब कुछ है लेकिन आनंद तो नहीं है तो डायोजनिज्म का सब कुछ होने से आनंद के होने का क्या संबंध है और अगर सब कुछ होने पर भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि आनंद नहीं मिला और अभी भी तुम और बड़े साम्राज्यों को जीतने जाते हो तो बड़े पागल हो देखता हूँ कई दिन से फौज फांटे चले जा रहे हैं तोपें जा रही हैं सैनिक जा रहे हैं कहाँ निकले हो क्या इरादे हैं सिकंदर ने कहा पहले एशिया माइनर जीतना है फिर हिंदुस्तान जीतना है फिर सारी दुनिया जीत के वापस लौटना है डायनीज ने कहा क्या मैं पूछूं कि सारी दुनिया जीत कर क्या करोगे अंत में क्या उद्देश्य है सिकंदर ने कहा बस आखिर में सब जीत के आराम करना चाहता हूँ शांति से आराम करना चाहता हूँ वो डायोजनी जोर से अपने कुत्ते को बुलाया जो उसके झोपड़े में बैठा था कि सुन इधर आ सिकंदर तो बहुत हैरान हो गया डायोजनी का कुत्ता भागा हुआ आया उसने कहा कि देख पागल कुत्ते से कहा सिकंदर को देख ये कह रहा है कि सारी दुनिया जीत लूंगा तब आराम से रहूंगा और हम दोनों यहां बिना दुनिया को जीते आराम से रह हमने बड़ी गलती कर दी हम भी दुनिया जीत लेते सिकंदर से कहा लेकिन मैं पूछता हूं अगर आराम से ही जीना है तो मैं सबूत हूं कि आराम से जी रहा हूं तो तुम भी आ जाओ ये झोपड़ा काफी बड़ा हम दोनों इसमें समा जाएंगे तुम भी यही आराम करो आओ ले जाओ सिकंदर ने कहा निमंत्रण के लिए धन्यवाद और हिम्मत का निमंत्रण है लेकिन बीच से कैसे लौट सकता हूँ अभी तो जाना पड़ेगा निकल भी पड़ा हूँ तब तो दुनिया जीतनी पड़ेगी डायोजनीज ने कहा तुम्हें पता है कि दुनिया की यात्रा कभी पूरी नहीं होती और जिसे लौटना हो आधे से ही लौटना पड़ता है और क्या भरोसा जिंदगी पूरी हो जाए और यात्रा पूरी ना हो तुम ना आ पाओ सिकंदर ने कहा नहीं कोशिश करूंगा लौट से वक्त फिर मिलूंगा डायोजनीस अपने कुत्ते से फिर कहने लगा ध्यान रखना ये वायदा दे रहा है हालांकि आदमी का क्या वायदे का भरोसा आज है कल मौत आ जाए क्या भरोसा फिर सिकंदर ने कहा मैं बहुत खुश हुआ मिलकर इतना हिम्मत पर आदमी मैंने कभी नहीं देखा वो अभी भी लेटा सिकंदर ने कहा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ मेरे पास सब है डायोजनीस ने कहा मेरे लिए क्या कर सकते हो ये तुमने बड़ा कठिन सवाल पूछा क्योंकि मेरे लिए करने को कुछ भी नहीं बचा है सिर्फ एक कृपा करो थोड़ा धूप छोड़ तो खड़े हो जाओ धूप आ रही थी तुम बीच में बाधा बन गए हो इतना पर कृपा करो थोड़ा धूप छोड़ दो और ध्यान रहे किसी की भी धूप मत छीन लेना तुम आदमी खतरनाक मालूम पड़ते हो तुम किसी की भी धूप छीन सकते हो तुम्हारे हाथ में तलवार खतरनाक सिकंदर हंसता हुआ लेकिन मन में रोता हुआ विदा हुआ बात तो शोक खा गई उसे कि एक आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है आनंद को उपलब्ध हुआ है हो सकता है एक आदमी आनंद को उपलब्ध जिसके पास कुछ भी ना हो लेकिन बड़े साहस की बड़े संकल्प की जरूरत है ये जानने की जब कुछ पाप ना हो तब ये जानने की कि कुछ भी मिलने से कुछ न मिलेगा बहुत कठिन है जब सब मिल जाए तब ये जान लेना बहुत सरल है कि सब मिलने से कुछ भी नहीं मिल जाता कुछ लोग कोशिश करें तो नितान दीनता में भी जान सकते हैं कि सब मिलने से भी कुछ नहीं मिलेगा लेकिन बहुत थोड़े लोग इतना संकल्प कर सकते हैं लेकिन सब किसी को भी मिल जाए साधारण से साधारण संकल्प के आदमी को समस्त मिल जाए सारी पृथ्वी का राज्य मिल जाए सब मिल जाए तो उसे भी दिखाई पड़ सकता है कि कुछ भी नहीं मिला सब मिल गया और कुछ चूक गया है कुछ जिसकी प्यास थी वो नहीं मिल पाया सिकंदर मन में रोता हुआ ऊपर से हंसता हुआ लौटा हम सभी ऐसे ही मन में रोते हैं ऊपर से हंसते रहते हैं उसके सेनापतियों ने उससे कहा भी कि आपकी हंसी आज बड़ी झूठी मालूम पड़ी है फिर सिकंदर हिंदुस्तान को बाद हिंदुस्तान के बाद वापस लौटा लूट कर और बहुत संपत्तियां लेकर सोचा था कि डायोजनी से जरूर मिलता चला जाऊंगा लेकिन रास्ते में सिकंदर मर गया पहुंच नहीं पाया हम में से बहुत लोग भी बाहर की खोज की यात्रा पर निकलते रास्ते में ही दूर जाते हैं भीतर के घर तक पहुंच नहीं पाते सिकंदर भी नहीं पहुंच पाया मर्द वक्त ख्याल तो आया होगा डायोजनीस का कि कहा था उस फकीर ने पता नहीं लौट पाओ न लौट पाओ अब वो उसका कुत्ता और वो दोनों हंस रहे होंगे देखो सिकंदर नहीं लौट पाया लेकिन संयोग की बात की जिस दिन सिकंदर मरा उसके घंटे बर्बाद डायोजनीस भी मर गया और यूनान में दोनों के मर जाने के बाद किसी होशियार आदमी ने एक कहानी प्रचलित कर दी कि उन दोनों का वैतरणी पर स्वर्ग में प्रवेश करते वक्त फिर मिलना हो गया सिकंदर आगे है घंटे भर पहले मरा है पीछे डायोजनीज है घंटे भर बाद मरा है डायोजनीज नंगा फकीर था जब सिकंदर मिला था सिकंदर बहुत कीमती आभूषणों और वस्त्रों से ढका था लेकिन आज सिकंदर भी नंगा है डार्जनिस तो लूंगा था ही वो वैसा का वैसा है सिकंदर बहुत डरने लगा मन में पीछे से खड़बड़ की आवाज सुनी लौट के देखा डायोजनी जा रहा है उसके तो प्राण निकल गए होंगे नंगा हूं आज डायोजनी ने उसी दिन सलाह दी थी कि आ जाओ मेरी लेट जाओ जगह काफी है आज डायोजनी फिर जोर से हंसेगा डायोजनी हंसने नहीं लगा सिकंदर रुका डायोजनी के हंसने में कहीं डर न जाऊं इसलिए उसने भी हंसने की कोशिश की और जोर से हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए जैसे अंधेरे में आदमी जोर से गीत गाने लगे और सीटी बजाने लगे ऐसा जोर से डर के उसने भीतर हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा अच्छा डायोगनी हो कितनी खुशी की बात है एक वास्ता का एक फकीर से मिलना बेहतर पर शायद ही पहले कभी हुआ हो डायोजनीस खूब हंसने लगा उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो लेकिन थोड़ी सी भूल करते हो भूल ये करते हो कि कौन बादशाह है और कौन फकीर है इसमें भूल करते हो बादशाह पीछे फकीर आगे सिकंदर आगे डायोजनीस पीछे डायोजनीस कहने लगा तुम क्या लेकर आए हो सब खोकर आए हो तो मैं कुछ भी खो के नहीं आया क्योंकि जो भी खोया जा सकता था वो मैंने खुद ही छोड़ दिया था मैंने वही बचाया था जो खोया नहीं जा सकता और तुमने वो सब इकट्ठा किया था जो कोई जाएगा कहाँ है तुम्हारे राज कहां तुम्हारे धन कहां तुम्हारे महल कहा तुम्हारी विजय की कहानियां वे वेशभूषाएं कहाँ गई वे कीमती वस्त्र कहाँ गए नग्न खड़े हो आज हमने यही सोच के पहले ही नग्न हो गए थे कि न मालूम कब सब छिन जाए तो हम नंगे ही पड़े थे तुमने उस दिन समझा होगा इसके पास कुछ भी नहीं है हमने वही बचा लिया था जो बचता है अंत में वो छोड़ दिया था जो छूट ही जाता और ध्यान रहे जो चीज छूटनी है जब छुड़ाई जाती है तो दुख देती है और जब छोड़ दी जाती है तो सुख दे जाती है नहीं गरीबी आदमी तो हो सकता है लेकिन बड़े संकल्प की जरूरत है बड़े साहस लेकिन ये मेरा मानना है कि समाज गरीब समाज धार्मिक नहीं हो सकता इतना संकल्प कहां से जुटाएंगे इतनी साधना कहां से लाएंगे समाज तो समृद्ध होना ही चाहिए समाज की समृद्धि जितनी बढ़ेगी उतने धर्म की अवसर संभावना बढ़ेगी और इसलिए मेरी दृष्टि में पृथ्वी उस क्षण के करीब पहुंच रही है जहां हम गरीब को मिटा देंगे जहां हम दरिद्रता को पहुंच डालेंगे और जहां हम एक एक आदमी की शरीर शरीर की सारी जरूरतें पूरी कर देंगे उस दिन कितनी मानव चेतना इकट्ठी होकर परमात्मा की तरफ गमन करेगी इसे आज कहना बहुत मुश्किल है लेकिन पृथ्वी अब तक अधार्मिक रही है कुछ लोग धार्मिक हुए मनुष्य अधार्मिक रहा है कुछ मनुष्य भी हुए किसी दिन अगर हम जमीन को सुख और शांति और समृद्धि से भर दें तो समाज धार्मिक होगा व्यक्ति नहीं व्यक्तियों के धार्मिक होने से कुछ होता भी नहीं कितना ही बड़ा व्यक्ति हो महावीर हो बुद्ध हो कृष्ण हो क्राइस्ट हो क्या होता है एक तारा चमक जाता है और फिर अंधेरे में खो जाता है और हमारा घना अंधेरा अपनी राह पर चलता रहता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है एक एक व्यक्तियों के धार में खोने से मनुष्य का ये अधर्म का इतना अंधकार नहीं मिटेगा सामूहिक तल पर कलेक्टिव कॉन्सियसनेस के तल पर सामूहिक चेतना के तल पर धर्म का अभ्युदय होगा करोड़ करोड़ लोग एक साथ प्रभु की पुकार और प्यास से भरेंगे और खोज से भरेंगे जिस दिन उसी दिन पृथ्वी का सारा वातावरण बदलेगा उसके बाहर नहीं बदल सकता है बहुत घना अंधकार है एक एक दिया जलाने से नहीं टूटेगा हजार हजार करोड़ करोड़ दिए जलने की जरूरत है कि अंधेरा टूट जाए बहुत घनी दुर्गंध है एक आध फूल खिल जाए पृथ्वी पर सुगंध नहीं फैलेगी गांव गांव घर घर एक एक आदमी के प्राण पर फूल खिलेगा तो सुगंध फैलेगी मनुष्य बहुत दुख में जिया है और बहुत पाप में और बहुत कष्ट में बहुत चिंता में उस चिंता उस कष्ट उस पाप को हम गरीबी को मिटाए बिना नहीं मिटा सकते इसलिए ये मुझसे मत पूछे कि मैं प्रसन्न कम्युनिस्ट हूँ छिपा हुआ कम्युनिस्ट कोई ना समझ ऐसा कहता होगा मैं तो बिल्कुल सीधा कम्युनिस्ट हूँ लेकिन कम्युनिस्ट होने का मेरा मतलब किसी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होने से नहीं कम्युनिस्ट होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो चीन में हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो कम्युनिस्ट होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि रूस में एक करोड़ आदमियों की हत्या की गई है हिंदुस्तान में की जाए कम्युनिस्ट होने से मेरा मतलब यह है कि करुणा प्रेम और सद्भाव के जन्म से अलोकतांत्रिक जीवन पद्धति के मार्ग से हम जितनी शीघ्रता से जीवन के पुराने ढांचे को तोड़ सके उतना अच्छा है और कोई कम्युनिस्ट जो हिंसक है मेरी दृष्टि में ठीक अर्थों में कम्युनिस्ट नहीं है साम्यवादी नहीं है क्योंकि हिंसा किसकी करोगे जिन पर करुणा करके एक सुख का समाज निर्मित करना है उनकी रूस में एक करोड़ लोगों की हत्या इस कलिन के समय में हुई है ये एक करोड़ लोग अरबपति तो नहीं हो सकते एक करोड़ अरबपति होते रूस में तो फिर कहना है क्या अच्छा। था ये एक करोड़ लोग कौन होंगे ये साधारण मजदूर थे गरीब किसान थे जिसमंगे थे इसमें सब सम्मिलित थे एक करोड़ लोगों की हत्या के बाद अगर जबरदस्ती हम समाजवाद लाएं वो कितनी देर टिकेगा और स्टलिन के मरने के बाद जैसे ही सख्ती थोड़ी धीमी हुई है वो समाजवाद को जबरदस्ती लाया गया सब बिखरना शुरू हो गया स्टलिन के मरने के बाद रूस के कदम पूंजीवाद की तरफ रोज रोज पड़े एक बहुत चमत्कारपूर्ण घटना घटनी शुरू हुई है अमेरिका रोज रोज समाजवाद की तरफ कदम उठा रहा है रूस रोज रोज पूंजीवाद की तरफ कदम उठा रहा है भविष्य में संभावना इस बात की है कि वे दोनों एक जगह आके मिल जाएं जहां रूस पूंजीवाद से समझौता कर ले जहां अमरीका समाजवाद से समझौता कर ले और एक बीच की व्यवस्था पैदा हो जाए शायद बड़ी सम्यक और स्वाभाविक व्यवस्था भी हो हिंसा से कोई क्षमता नहीं लाई जा सकती क्योंकि हिंसा का भाव ही क्षमता का विरोधी है क्षमता को लाई जा सकती है करुणा से प्रेम से और इसलिए धर्म की एक चेतना फैलाने की जरूरत है मेरा कम्युनिस्टों से इस मामले में बुनियादी विरोध कि वे अधार्मिक या धर्म विरोधी मेरी कल्पना के ही बाहर कि धर्म के विरोध में होकर दुनिया को समता लाने का उपाय क्या है और मेरी कल्पना की ये भी बात है कि जो आदमी मनुष्य के भीतर आत्मा को इनकार करता है और जगत में परमात्मा को इनकार करता है तो उसको गरीब के दुख की बात करने की जूल है एक मशीन है दुख में या सुख में से क्या फर्क पड़ता है एक मशीन का कोई दुख होता किसी मशीन को आप गरीब कहते हैं किसी कार को अगर पेट्रोल न मिले तो गरीब हो गई और किसी कार को पेट्रोल मिले तो अमीर हो गई और हम लड़ाई झगड़ा करेंगे कि जिस कार को पेट्रोल नहीं मिल रहा है इसकी मशीन को बड़ा दुख हो रहा है अगर मार्क्स की ये बात सच है कि मनुष्य पदार्थ है तो दुनिया में समाजवाद लाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आदमी नहीं है मशीन है और मशीनों में न दुख होता न सुख होता ट्रेन मिल जाए तो मशीन चलने लगती ना मिले तो नहीं चलती खत्म हो जाती खत्म हो जाए हर्ज क्या है इसी वजह से इस स्टेलिन जैसा व्यक्ति एक करोड़ लोगों की हत्या कर सका क्योंकि मशीनें हैं काट दो हर जगह है न कोई भीतर आत्मा है न कोई संवेदनशील चेतना है मरने पर कुछ बचता नहीं कम्युनिज्म की ये बात मौलिक रूप से कम्युनिज्म के विरोध में है इसलिए मेरी तरह मुसीबत है कम्युनिस्ट समझते हैं मैं कम्युनिस्टों का दुश्मन हूं कम्युनिस्टों के दुश्मन समझते हैं मैं कम्युनिस्ट हूं मैं धर्म की जितनी गहराइयों में देख पाता हूं मुझे दिखाई पड़ता है धर्म और साम्यवाद एक ही चीज के दो पहलू हैं धर्म भीतरी साधना है साम्यवाद उसी साधना से हुए अनुभव का बाहर विस्तार अगर मैं अपने भीतर जाऊं और मुझे दिखाई पड़े प्रभु और जिस दिन मुझे अपने भीतर उसकी ज्योति दिखाई पड़ती है उसी दिन सबके भीतर उसकी ज्योति दिखाई पड़ने लगती है तब द्वार पर भीत मांगते भीत मंगे को देखकर बहुत पीड़ा शुरू हो जाती क्योंकि मैं ही उसकी तरफ से खड़े होकर भीख मांग रहा हूं और तब एक आदमी को सड़क पर भूखे मरते देखकर पीड़ा होना स्वाभाविक है क्योंकि आदमी नहीं है परमात्मा ही भूखा तड़प रहा और मर रहा है और हम सब उसके पास से संवेदनहीन जो जड़ गुजरे चले जा रहे हैं नहीं धर्म और साम्यवाद मेरे लिए एक ही अर्थ रखते हैं कोई मुझसे पूछे क्या आप धार्मिक है तो मैं कहूंगा हाँ और कोई मुझसे पूछे कि आप साम्यवादी हैं तो मैं कहूंगा हाँ मैं बिल्कुल साम्यवादी हूँ क्योंकि बिल्कुल धार्मिक होने के कारण साम्यवादी होने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं और अगर कोई धार्मिक आदमी कोई साधु संत कोई महात्मा कहता हो कि वो साम्यवाद के विरोध में है तो समझना है कि उसे धर्म का भी अनुभव अभी शुरू नहीं हुआ है उसे धर्म की कोई प्रकृति शुरू नहीं हुई वो किसी न किसी रूप में पूंजीवाद के एजेंट का काम कर ही रहा है और करता चला जा रहा है और हजारों साल से साधु संन्यासियों ने पूंजीवाद के एजेंट का काम किया है एक सांस गांव एक कॉन्स्परेसी है षडयंत्र पूंजीवाद सन्यासी को बचाता है मठ मंदिर बनाता है पीठ बनाता है सन्यासी के लिए आश्रम बनाता है पूंजीवाद सन्यासी को बचाता है सन्यासी पूंजीवाद के लिए आर बनता है वो गरीबों को समझाता है ये अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं तुम अपने पापों का फल भोग रहे हो गड़बड़ नहीं करना है इसमें कुछ गड़बड़ किए तो और पाप हो जाएगा बगावत मत करना विद्रोह की बात में सोचना संतोष रखो गरीब को समझाता है संतोष रखो धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा भगवान अगर कष्ट भी दे रहा है तो तुम्हारे ही हित में दे रहा है उसमें भी कोई रहस्य छिपा होगा और अगले जन्म में सब ठीक हो जाएगा वो गरीब को समझाता है गरीब रहने के लिए अमीर को कहता है तुम अपने पुण्यों का फल भोग रहे हो ऐसे अमीर जितने पाप करता है उनको वो पुण्य का मुलम्मा देता है और ऊपर से पुण्य की सोने की बर्फ चढ़ा देता है और अमीर को बुलावा देता है कि पाप से नहीं हो रहा है धन इकट्ठा पिछले जन्मों के पुण्य से हो रहा है अमीर के भीतर भी दंश पैदा हो सकता है पीड़ा पैदा हो सकती गिनती उसको भी लग सकता है कि मैं कोई अपराध कर रहा हूं सन्यासी उसके अपराध भाव को मारता है उसकी जो गिल्ट फीलिंग है उसको हटाता है वो कहता है तुम्हारे पुण्यों का फल तुमने पिछले जन्मों में किया होगा उसका फल लोग रहे हो पुण्यों के फल के कारण तुम अमीर के घर में पैदा हुए हो पुण्यों के फल के कारण धन चला आ रहा है जबकि धन मौलिक रूप से पाप के बिना न आता है न इकट्ठा होता है असल में हम कुछ पापों को पहचानते ही नहीं जब तक कुछ लोग गरीब ना हो जाएं तब तक मैं अमीर नहीं हो सकता कुछ लोगों को गरीब करके ही अमीर हो सकता हूं ये अपराध नहीं प्रोधु ने कहा है धन चोरी और ठीक कहा है मगर ऐसी चोरी है जो समाज को स्वीकृत है दो तरह की चोरियां हैं एक जिसको समाज स्वीकार नहीं करती उस चोर को हम कारखाने जेल खाने में बंद रखते एक ऐसी चोरी है जिसे समाज स्वीकृत करता है उस चोरी को हम आदर देते हैं सम्मान देते हैं सन्यासी ने साधु ने सुरक्षा की है धनपति की और धनपति के भीतर अपराध भाव पैदा होने से रोका है और गरीब को संतोष दिया है और इस बाकी सन्यासी के बीच में एक पर्व बन के खड़ा हो गया है जो जिंदगी और समाज को बदलने नहीं देता इसलिए हिंदुस्तान जैसे देश में जो हमेशा से गरीब है सबसे ज्यादा गरीब है लेकिन जहाँ क्रांति की कोई बात भी पैदा नहीं हो सकती क्योंकि हिंदुस्तान में सन्यासियों की बड़ी कतार गरीब और अमीर के बीच सॉफ्ट एब्जॉर्वर का काम कर रही है ट्रेन के डब्बों में बीच में साफ एब्जॉर्वर लगे होते डब्बे को धक्का लगता है एब्जॉर्वर पी जाता है डब्बे के भीतर यात्रियों को पता नहीं चलता कार में स्प्रिंग लगे होते गड्ढा आता है स्प्रिंग गड्ढे को पी जाते भीतर बैठे आदमी को पता नहीं चलता हिंदुस्तान की क्रांति के डबके पैदा ही नहीं हो पाते हैं साधु महात्माओं मंदिरों मस्जिदों पुरोहितों पंडितों की एक लंबी कतार सात ऑब्जॉर्वर का काम करती वो बीच में सब धक्के पी जाती गरीब को कहती गरीब रहो ये तुम्हारे कर्मों का फल है और अगर अभी गड़बड़ की तो आगे भी गरीब रहोगे शांति रखो प्रार्थना करो आगे ठीक हो जाएगा अमीर को कहती तुम अपने पुण्यों का फल भोग रहे हो उसकी अपराध भावना को कम कर दीजिए ये कतार धार्मिक नहीं धार्मिक होना मुश्किल है धार्मिक होने का इतना ही मतलब नहीं होता कि एक आदमी रोज भगवान के सामने घंटी बजाता हो कि एक आदमी रोज तिलक टीका लगाता हो कि एक आदमी तीन घंटे जप करता हो धार्मिक होने का इतना ही मतलब नहीं होता धार्मिक होने का मतलब है इतना संवेदनशील होना कि जीवन का सारा तथ्य दिखाई पड़ने लगे जीवन के सारे तथ्य दिखाई पड़ने लगे आंख हाँ, इतनी संवेदनशील होनी चाहिए चेतना इतनी निर्मल होनी चाहिए कि सब दर्पण की तरह दिखाई पड़ने लगे धार्मिक व्यक्ति को साफ साफ दिखाई पड़ेगा गरीब और अमीर जुड़े दोनों के बीच लेन देन चल रहा है एक शोषण की एक धारा बह रही है एक नहर खुदी है जहां से सब अमीर की तरफ चुपचाप चला आता है सारा क्रम धीरे धीरे अमीर के बाद धन की तरह इकट्ठा हो जाता है हमें पता नहीं है कि ताजमहल किसने बनाया एक कारीगर का नाम का पता नहीं जिसने बनाया उसका कोई पता नहीं जिसने कभी नहीं बनाया जो कभी देखने भी नहीं गया होगा बनते वक्त उसका नाम हमें पता है पिरामिड किसने खड़े किए इजिप्त में कहते हैं एक एक पत्थर को चढ़ाने में पचास पचास लोग मर गए लेकिन कौन मरा उन पत्थरों को चढ़ाने में क्योंकि क्रेन तो नहीं थी इतने इतने बड़े पत्थरों को ऊपर चढ़ाने में निश्चित ही लोग मरे होंगे हजारों लोगों का खून है उनका कोई पता नहीं लेकिन जिसकी आज्ञा से ये हुआ और इजिप्त में जब बन रहे थे पिरामिड तो एक बड़े पत्थर को जो आदमी की जान लेने वाला हो उठाना बहुत कठिन है तो पीछे घोड़ों पर सवार कोड़े मारने वाले लोग रहते थे कि जरा फिसल हुआ मजदूर तो उसने कोड़े चलाए कोड़ों की चोट में कोड़ों से बचने के लिए बड़े से बड़े पत्थर को लेकर मजदूर चढ़ रहा फिसल पड़ा है पत्थर दस पचास मजदूर दब के मर गए मजदूरों की लाशें हटा दी गई पचास दूसरे तो मजदूर जो किए गए पिरामिड खड़ा हो गया इतिहास बड़ा गुणगान करते हैं पिरामिड का कि बड़ी सुंदर कृति है और ताजमहल का गुणगान करते हैं कि बड़ी सुंदर कृति है लेकिन कितने लोगों का खून समा जाता है कितने लोगों का श्रम समा जाता है अगर हम दुनिया की सब बड़ी बड़ी सुंदर कृतियां भी उनके भीतर उतर के देखें तो उनकी कुरूपता बहुत महंगी मालूम पड़ेगी ये जो हमने संस्कृति और सभ्यता खड़ी की है ये कितने शोषण पर खड़ी हुई है ये कहना बहुत मुश्किल है लेकिन अब आगे ये नहीं हो सकता आगे धार्मिक आदमी साफ एब्जॉर्वर का काम नहीं करेगा और करेगा तो उसका दुनिया में बचने का कोई उपाय नहीं आज नहीं कल उसे विदा होना पड़ेगा धार्मिक आदमी की एक बिल्कुल नई तस्वीर आने वाले भविष्य में प्रकट होनी चाहिए तो ही धर्म बचेगा वो तस्वीर अभी सुबह यहाँ कोई पढ़ रहा था ओम शांति शांति शांति बहुत दिन से सन्यासी यही कहते रहे आने वाले सन्यासी को कहना पड़ेगा ओम क्रांति क्रांति बहुत हो गया शांति का स्वर बहुत हो गया बहुत दिन से सुन रहे हैं शांति शांति कोई कहे क्रांति की और ध्यान रहे क्रांति के बिना शांति नहीं हो सकती इतनी अशांति है कि इस पूरी व्यवस्था को बदले बिना शांति नहीं तो मैं कम्युनिस्ट हूं क्रिप्टो कम्युनिस्ट नहीं प्रसन्न कम्युनिस्ट नहीं बिल्कुल स्पष्ट लेकिन अपने किस्म का अकेला ही किसी पार्टी वगैरह में नहीं हूं और कोई पार्टी बनाने को उत्सुक भी नहीं है क्योंकि पार्टी सब नकलचियों की होती अकेले रहना चाहिए एक मित्र ने पूछा है एक मित्र पूछते हैं भगवान को जाने ही क्यों क्या जानने की आवश्यकता है इसके बगैर नहीं चल सकता चलाने की कोशिश तो हम सभी करते चल नहीं पाता नहीं चल सकता भगवान शब्द का सवाल नहीं गहरे में सत्य की खोज का सवाल है गहरे में स्वयं की खोज का सवाल है और गहरे में आनंद की खोज का सवाल है इस सवाल को ऐसा पूछे कि हम आनंद को खोजे ही क्यों क्या आनंद को बिना खोजे नहीं चल सकता चल सकता हो बिल्कुल चला लीजिए चल नहीं सकता चलाने की कोशिश हम करते हैं भगवान शब्द से बड़ी गड़बड़ पैदा हो गई है उसके भीतर जो छिपा है वो छूट ही गया भगवान से ख्याल आता है कहीं हनुमान जी का कहीं रामचंद्र जी का कहीं मंदिर का कहीं मस्जिद का भगवान से कुछ दूर और बाहर की चीज का ख्याल आता है जो गलत भगवान से मतलब केवल है सत्य का जीवन के परम सत्य का कैसे चल सकता है सत्य को जाने बिना एक आदमी अंधेरे में चलते हुए कहे प्रकाश के बिना नहीं चल सकता है हम कहेंगे कोशिश करो टकराहट होती सिर फूटता है गिर पड़ते हैं टकरा जाते हैं वो आदमी कहता है बिना चलाने से कोई हर्ज है तुम तो कहते हैं चलाओ लेकिन चलता नहीं रोज की टक्कर बताती है दुख संताप बताता है कि चलता नहीं खोजना ही पड़ेगा आनंद को धार्मिक आदमी उसे भगवान कहते वो सिर्फ नाम की बात आनंद कहें ठीक होगा सत्य कहें ठीक होगा प्रेम कहे ठीक होगा इन सबके जोड़ का इकट्ठा नाम है भगवान भगवान कोई व्यक्ति नहीं है कहीं दूर आकाश में बैठा हो जिसे खोजने जाने की जरूरत कोई जरूरत नहीं बैठे हो बैठे रहो अगर जरूरत हो तुम खोजने आ जाना ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसे खोजने हमें कहीं जाना है भगवान कोई व्यक्ति नहीं है हमारे ही भीतर जो जीवन की ऊर्जा है जो लाइफ की एनर्जी है हम जो है उसे बिना जाने कैसे चलेगा हम अपने को ही नहीं जानते फिर हम दूसरे को भी नहीं जान पाते फिर सारा जीवन कष्ट हो जाता है संघर्ष हो जाता है अज्ञान में चलेंगे तो कष्ट होगा ही हम अपने को पहचानते ही नहीं इसलिए जो भी करते हैं वो हमें कष्ट में उतार देता है जहां भी जाते हैं कष्ट में उतर जाते हैं ये भी पता नहीं कि क्यों जा रहे हैं कौन है जो जा रहा है क्या प्रयोजन है जाने का आप पूछते हैं बिना जाने नहीं चल सकता नहीं चल सकता कभी नहीं चला और अगर कोई चलाएगा तो सारी जिंदगी दुख और पीड़ा की लंबी कहानी हो जाती है सारी जिंदगी जन्म से लेकर मृत्यु तक एक दुख की लंबी यात्रा हो जाती है सुख की आशा रहती है दुख का अनुभव मिलता है आशा सुख की रहती है कल मिलेगा मिलता सुख है रोज रोज कल की आशा में आज के दुख को हम झेल लेते हैं और चलते चले जाते हैं मरते तक मौत आ जाती है पता नहीं चलता ययाति की बहुत पुरानी कथा कि ययाति मरने को हुआ सौ वर्ष का हो गया एक सम्राट था पुराना मरने को हुआ मौत आ गई द्वार पर मौत ने कहा ययाति तैयार हो जाओ मैं द्वार पर प्रतीक्षा करती हूँ ययाति ने कहा आ तुम अभी तो कुछ भी नहीं हुआ मैं कुछ कर ही नहीं पाया न कोई सुख जाना न कोई आनंद अभी नहीं जा सकता हूं यजाति घबराने लगा मौत ने कहा लेकिन मुझे तो ले जाना पड़ेगा अगर तुम्हारा बेटा कोई राजी हो तो मैं उसको ले जाऊं बिना लिए मैं जाने वाली नहीं पहले मौत नरम रही होगी अब तो ऐसी नरम नहीं दिखाई पड़ती अब तो उसी को ले जाती है जिसको ले जाना पुराने जमाने की बात है भोली भाली रही होगी ययाति ने अपने बेटों को बुलाया वो भी पुराने जमाने के बेटे थे आज के जमाने के बेटे होते तो बुलाने से आते ही नहीं और मौत के वक्त तो बिल्कुल नहीं आते बाप जिंदा हो जेब गर्म हो आदि जाते मरते बाप के पास कौन आता है कहते कि जल्दी जल्दी समाप्त करो लेकिन पुराने बेटे थे आ गए बेटों से बाप ने कहा कि मुझे मौत लेने आई है और मैंने तो अभी जिंदगी में सुख जाना नहीं तो तुम में से कोई अपनी जिंदगी दे दो तुम मौत के साथ चले जाओ बड़े बेटे तो होशियार थे वो तो इधर उधर देखने लगे जैसे उम्र बढ़ती आदमी की चालाकी बढ़ जाती छोटा बेटा बेटा था कोई इतना चालाक नहीं था उसने कहा ठीक है मैं चला जाता हूं और फिर उसने कहा कि जब तुम्हें सौ वर्ष में कुछ सुख नहीं मिल पाया तो मैं ना आप सौ वर्ष क्यों मेहनत करूं चला ही जाऊं तो सौ वर्ष के बाद मुझको जाना पड़ेगा ये मेहनत मैंने देख ली तुम्हें सौ वर्ष में नहीं मिला तो मैं चला जाता बुद्धिमान भी रहा होगा जो चालाक नहीं होते वही बुद्धिमान भी हो सकते चालाक आदमी बुद्धिमान कभी नहीं होता लेकिन चालाक की अक्सर बुद्धिमानी मालूम पड़ती है बेटा चला गया मौत ले गई फिर सौ वर्ष बीत गए कब पता नहीं चला जिंदगी कब बीत जाती है पता चलता नहीं बीत जाती तभी पता चलता है जा चुकी होगी तभी पता चलता है उसकी छाया दिखती है जाती हुई आती हुई जिंदगी दिखती नहीं बस गई और पता चलता है कि निकल गई हाथ से सौ वर्ष फिर बीत गए कब बीत गए पता नहीं चला यह आदमी ने सोचा सौ वर्ष बहुत पड़े खोज लेंगे मौत चिरा गई द्वार पर तक तक दी ये की घबराया उसने कहा फिर तुम आ गई क्या सौ वर्ष पूरे हो गए मौत ने कहा तुम कहते क्या हो क्या किया इतने दिन तुम फिर वैसे ही उदास दिखाई पड़ते हो उसने कहा लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो पाया रोज रोज खोजता हूँ सुख को मालूम होता है कल मिलेगा आज निकल जाता है कल आ जाता है आशा फिर कल से चली जाती है और रोज दुख मिलता है आशा में सुख रहता है सौ वर्ष और दे दो अभी तो मैंने कुछ जाना नहीं मौत बताई तो बहुत मुश्किल है फिर किसी बेटे को राजी करो सौ वर्ष में फिर नए बेटे पैदा हो गए पुराने बेटे तो मर चुके थे फिर एक बेटा राजी हो गया ऐसी कहानी चलती यया इस तरह एक हजार वर्ष जिया और एक हजार वर्ष के बाद जब मौत ने दस्तक दी तब वो ठीक उसी हालत में था जैसी पहली बार सौ वर्ष की उम्र पर दस्तक दी थी उसने कहा अच्छा अब ले ही चलो हालांकि सुख अभी मिला नहीं लेकिन अब वो मिलेगा भी नहीं ययाति की कहानी तो कहानी है लेकिन जो जानते हैं वो कहेंगे हम भी बहुत सौ बार जी चुके हैं शरीर तो बदल जाता है ययाति का भी बदल गया बेटे का मिल जाता था उम्र मिल जाती थी शरीर बदल जाता है बहुत जन्म हम भी ले चुके बहुत बार जी चुके फिर वही सुख की खोज है वो मिलता नहीं मरते हुए आदमी से पूछो सुख मिला अगर वो बेईमान ना हो या बच्चों को धोखा न देना चाहे और बूढ़े बच्चों को धोखा दे रहे हैं अगर बूढ़े सब सत्य प्रकट कर दें जिंदगी बहुत और दूसरी हो जाए लेकिन जो उनके गुरु ने उन्हें धोखे दिए थे वो अपने बेटों को दिए चले जाते इलूजन ब्रह्म कायम रहता है पूछो मध्य आदमी से सुख मिला कोई तो नहीं कहेगा मिलने की आशा की मिला नहीं एंड्रू कार्ले की मर रहा था अमरीका का एक बहुत बड़ा अरबपति शायद पृथ्वी पर इतना पैसा किसी दूसरे आदमी के पास नहीं था कहते हैं दस अरब रुपया पीछे छोड़कर मरा मर रहा है उसकी जीवन कथा लिखने वाला लेखक उससे मरने के दिन पूछा कि कार्नेगी आप तो प्रसन्न मर रहे होंगे दस अरब रुपए दुनिया में शायद ही कोई कभी छोड़ गया हो आपको आनंदित होना चाहिए आप एक सफलतम व्यक्ति हो कार्नेगी ने क्रोध से कहा सफल क्या कहते हो सिर्फ दस अरब मेरे सौ अरब कमाने के इरादे में सब असफल हो गया और अगर कारने भी जिंदा रह जाता और सौ अरब कमा लेता तो भी वो ऐसे ही कहता सौ अरब जैसे सौ नए पैसे क्योंकि तब तक आकांक्षा की यात्रा और आगे चली गई होगी सुख हमारी आकांक्षा है दुख हमारा अनुभव और दुख के अनुभव को हम झेल लेते हैं सुख की आकांक्षा के कारण और रोज रोज झेल लेते हैं और भूल जाते हैं और भूल जाते हैं और भूल जाते हैं रोज रोज वही और जन्म जन्म वही अगर चला सकते हो ऐसा ही तो चला ले लेकिन धर्म कहता है ऐसे नहीं चल सकता सत्य को जानना ही पड़ेगा क्योंकि सत्य को जाने बिना आनंद नहीं मिलता सिर्फ सुख की आशा बनी रहती और सत्य को जानते ही आनंद उपलब्ध होता है दुख विलीन हो जाता है सत्य को जाने बिना मृत्यु निरंतर खड़ी भी रहती है सत्य को जाने बिना चिंता मिट ही नहीं सकती सत्य को जाने बिना हमारे भटकाव का हमारे कहीं भी उतराने तैरने किन्हीं भी तटों पर भटकने का ये व्यर्थ क्रम नहीं मिलता सत्य को जानते ही हम एक दूसरी जीवन यात्रा में प्रविष्ट होते हैं जहां अर्थ है मीनिंग है जहाँ आनंद है दिलीप है और जहाँ एक शांति है जिसे हमने कभी नहीं जाना जो अपरिचित जिसके हमें कोई पहचान नहीं तो मित्र पूछते हैं चल जाएगा ईश्वर को जाने देना कोशिश करें चल जाए तो अच्छा है वैसे कभी किसी का चला नहीं कोशिश असफल हो गई है सदा और आखिर में पता चला है कि भटक गया जीवन अगर इतनी ताकत सत्य को स्वयं को प्रभु को खोजने में लगाई होती तो पता नहीं क्या हो जाता 24 घंटे कुछ और करते रहे पांच मिनट भी उसकी खोज जारी रखी तो जीवन के अंत में पाएंगे कि बाकी 24 घंटे व्यर्थ गए वो जो पांच मिनट उसकी तरफ लगाए थे वही सांस बच गए हैं वही संपत्ति बन गए बाकी सबसे विपत्ति सिद्ध हुआ लेकिन लेकिन स्मरण नहीं आता एक मित्र ने और पूछा है कि क्या युवक आदमी भी धर्म की बातों में पड़ जाए ये तो एक उम्र के बाद की बातें हैं ऐसा ही समझाया गया है आज तक आज तक यही बताया गया है कि वृद्ध का काम है धर्म अगर वृद्ध का काम धर्म है तो फिर जवान का काम अधर्म हो जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं आखिर जवान भी तो कुछ करेगा अगर वृद्ध का काम धर्म है तो जवान क्या करेगा तो हमने ये मान लिया है कि जवान अधर्म करे तो चलेगा वृद्ध भर को धार्मिक होना चाहिए लेकिन वृद्ध को ही क्यों धार्मिक होना चाहिए उसका ही क्या कसूर है उसके कारण दूसरे जैसे ही मौत करीब आती है आदमी के पैर कर मगा जाते हैं जैसे ही मौत सामने आने लगती है वैसे ही आदमी को लगता है जो मैंने किया वो व्यर्थ गया मौत के सामने लड़ने में मैंने जो कमाया है उसकी क्या ताकत मेरे रुपए किस काम आएंगे मौत के सामने आने का मेरा पद रोकेगा मुझे ये मौत सामने खड़ी वो घबराने लगता है वो सोचता है अब परमात्मा को पुकारू ईश्वर को खोजू अब मौत से डर के खोजता है डर से नहीं सत्य की खोज हुई है मरते वक्त लोग सोचते हैं ईश्वर का स्मरण कर लेंगे और बेईमानों ने यह सिखाया है कि मरते वक्त एक दफे नाम भी ले लोगे तो सब ठीक हो जाएगा अभी बिल्कुल झूठी बातें हैं जिस आदमी की पूरी जिंदगी और थी वो मरते वक्त राम का नाम ले कैसे सकेगा मरते क्षण में तो वही हमारी चेतना में होगा जो जीवन भर का निचोड़ और निष्कर मृत्यु के क्षण में तो सारे जीवन का सार हमारे आंखों के सामने खड़ा हो जाता है जो लोग कभी पानी में डूबे और मर नहीं पाए उन लोगों का अनुभव यह है कि डूबते वक्त जब लगता है कि मर रहे हैं तो सारी जिंदगी की तस्वीरें एकदम से घूम जाती हैं जैसे फिल्म के पर्दे पर तेजी से फिल्म घूम गई हो एक सेकंड में सारी जिंदगी घूम जाती है और वो जिंदगी का जो सार है आंख के सामने खड़ा हो जाता है मरते वक्त हमारे चित्त में वही होगा जो जीवन भर हमने समारा है मरते वक्त राम नहीं हो सकता कैसे होगा लेकिन होशियार और चालाक लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में ना भी हो तो कोई अर्थ नहीं एक किराए का पंडित बुला लेना वो कान में राम राम राम राम करता रहे अब कहीं किराए से भी धर्म उपलब्ध हुआ एक आदमी तुम मरना और एक आदमी भगवत गीता पढ़ेगा तुम मरना और एक आदमी इधर नमोकार मंत्र पढ़ेगा तुम मरना और कान में सब कह देगा जो कहना है कि तुम्हें जानना है मरते क्षण सुनने की हैसियत भी नहीं रह जाती आदमी और अगर उसका बस चले तो वो कहेगा बकवास बंद करो क्योंकि तो उसे सब ये बकवास मालूम पड़ेगी वो तो बेहोश हो रहा है इसलिए कुछ कह नहीं सकता सुन रहा है बेचारा तुम बके चले जा रहे हो जिसने जिंदगी भर इसको बकवास समझा आज मरते वक्त ये सार्थक कैसे हो जाएगी जीवन एक सतत धारा है जिसे गंगा बहती है गंगोत्री से गंगा सागर तक एक सतत धारा है जो गंगोत्री में है वही सागर में गिरते वक्त से बड़े होकर वही वही मूल स्रोत बढ़ता हुआ चला आया कोई कहे कि गंगा काशी तक तो पवित्र नहीं रहती अपवित्र रहती और काशी से आके एकदम पवित्र हो जाती तो हम नहीं मानेंगे कि हो कैसे जाएगा अपवित्र गंगा की धारा काशी पर भी अपवित्र रहेगी जो धारा आई है उसी की कंटिन्यूटी उसी का सातत्य तो रहेगा जीवन की चेतना एक धारा है जीवन भर जिस धारा में जो रहा है मरते क्षण भी वही रहेगा धारा नई कैसे हो जाएगी नहीं जवान आदमी को ही नहीं छोटे बच्चे को भी धार्मिक होने की जरूरत है अगर मृत्यु के क्षण तक प्रभु का साक्षात्कार कर लेना हो तो जन्म के पहले दिन से ही यात्रा की व्यवस्था शुरू हो जानी चाहिए ये अंत में छोड़ देने की बात नहीं कल पे टाल देने की बात नहीं क्योंकि सबसे ज्यादा अल्टीमेट सबसे ज्यादा चरम प्रश्न ही यही है कि मैं स्वयं को सत्य को कैसे जान लू मैं वहां कैसे पहुंच जाऊं जहां अंधकार नहीं प्रकाश नहीं इसे हम अंत पर नहीं छोड़ सकते हैं ये अखीर में नहीं होगा ये हमें रोज जीना पड़ेगा हम मान लेते हैं अखीर में होने की बात क्योंकि हमको खुद पोस्टपोन करने में सुविधा मालूम पड़ती है कि कल देखेंगे परसों देखेंगे नरसों देखेंगे कल का भरोसा है परसों का भरोसा है एक क्षण का भरोसा नहीं है इस क्षण में जो जरूरी है वो मुझे कर लेना चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी धर्म है बाकी सब चीजें उससे पीछे नंबर दो है नंबर एक और कोई चीज नहीं हो सकती तो मैंने ये जो ये जो बातें कही ये वृद्ध जनों के लिए नहीं कही और वृद्ध जनों में भी केवल वही इन बातों को कर पाएंगे जो शरीर से ही वृद्ध हो गए हैं मन से युवा असल में करने के लिए युवापन चाहिए ही चाहे शरीर में चाहे मन में युवा ही कुछ कर सकता है जैसे जैसे व्रत होता जाता है व्यक्ति शरीर से तो होता ही है अगर मन से भी व्रत हो जाए तो फिर नया कुछ भी करना असंभव हो जाता है व्रत होने का एक ही लक्षण है नया सीखने की असमर्थता व्रत नया नहीं सीख सकता पुराने को सिर्फ दोहरा सकता है सीखने की क्षमता कम हो जाती है जो सीख लिया उसी में जीने की क्षमता रहती है जीवन भर सीखा संसार मरते वक्त सत्य कैसे आ जाएगा जीवन भर सीखा अधर्म अंतिम क्षण में धर्म कैसे आ जाए तो बीज हम जिसके बोएंगे फल भी उसी के उपलब्ध होते हैं और कड़वे बीज बोएंगे तो मीठे फलों की संभावना नहीं इसलिए ये बात बिल्कुल जड़ से उखड़ के फिर जानी चाहिए कि धर्म वृद्धों का काम है धर्म पूरे जीवन की साधना है पहले दिन से बल्कि जो बहुत गहरे में जानते हैं वो कहेंगे गर्भाधारण के क्षण से जिस क्षण से मां के पेट में गर्भ निर्मित हुआ है उस क्षण से धर्म की साधना शुरू हो गई और अगर मां समझदार हो तो अब इन नौ महीनों में एक जीवन जो उसके भीतर विकसित हो रहा है अगर उसका उसे थोड़ा भी ध्यान हो तो शायद बिल्कुल दूसरे तरह का व्यक्ति पैदा हो सके लेकिन वो लड़ रही है क्रोध कर रही है गालियां दे रही है सब संघर्ष चल रहा है सब चिंता चल रही है इस सबके संस्कार उस छोटे से भ्रूण पर पड़ते वो सब निर्मित हो रहा है कल वो बच्चा क्रोधी की तरह खड़ा होगा तो ये मां फिर सीखेगी ये दुष्ट कहां से पैदा हो गया ये दुष्ट और कहीं से पैदा नहीं हुआ आपसे ही पैदा हुआ है बाप कहेगा कि ऐसा नालायक लड़का पैदा हो गया लायक बाप को नालायक लड़का पैदा हो कैसे जाएगा जीवन के प्रथम क्षण से निर्माण शुरू हो गया है किस क्षण में किस भाव में किस प्रार्थना के मन में बच्चे का गर्भाधारण हुआ है वो उसके पूरे जीवन की यात्रा का बीज शुरू हो गया है बलात्कार से भी एक बच्चा पैदा हो सकता है लेकिन उस बच्चे की संभावना बहुत दिन होगी अत्यंत प्रेम से भी एक बच्चा पैदा हो सकता है उसकी संभावना नहीं होगी और अत्यंत प्रेयरफुल मूड में प्रार्थना से भरे हुए भी एक बच्चा पैदा हो सकता है लेकिन उसकी संभावना और भी नहीं होगी कैसे बच्चा शुरू हुई है यात्रा उसकी फिर माँ के पेट में नौ महीने माँ ने क्या किया है उस घर में क्या हुआ अभी तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं तो बहुत हैरान है वो तो ये कहते हैं कि मां के पेट में बच्चा है और अगर चारों तरफ लाल रंग की दीवाना खोद दी जाए तो बच्चा क्रोधी हो जाए क्योंकि लाल रंग क्रोध को पैदा करता है छोटे छोटे बच्चों को हम लाल रंग के खिलौने देते हैं वैज्ञानिक नहीं है बच्चों को लाल रंग के खिलौने देना एकदम खतरनाक है क्योंकि लाल रंग सब तरफ से भीतर क्रोध के परमाणुओं को सजग करता है इसलिए तो क्रुद्ध लोग लाल रंग को चुनते कम्युनिस्ट लाल झंडा चुनते क्रुब्ध वो जो क्रोध का प्रतीक है वो क्रोध है तो उसके लिए लाल रंग चुन लेते आप जंगल में जाते हैं वृक्षों को देख के मन शांत हो जाता है वो सिर्फ हरे रंग का प्रभाव और कुछ भी नहीं लंबी हरियाली मन के सारे परमाणुओं को शांति की तरफ झुका देती है अगर एक माँ के पेट में बच्चा है तो दीवाने लाल हो कि हरी ये भी धार्मिक आदमी विचार करेगा कि दीवार कैसी हो माँ कैसे कपड़े पहने कैसा संगीत सुने संगीत के नाम पर तो सिवाय लड़ाई झगड़ा के और कोई संगीत सुनने को मिलता नहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा है वही संगीत घर में वही संगीत है चौबीस घंटे कलह चल रही बहुत बहुत रूपों में उसी का भी ताल पद जो भी है वही कलह के हैं सितार कहो संगीत कहो वही कलह जो चौबीस घंटे चल रही है वही कलह उस कलह के बीच बच्चा निर्मित हो रहा है एक एक छोटा छोटा और फिर माँ के पेट से बच्चा आया है तो हमें ख्याल ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं अगर धार्मिक जीवन की तरफ चेतना को ले जाना हो तो अत्यंत छोटी बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा मैंने सुना है नेपोलियन छह महीने का था झूले पर तो सोया हुआ एक जंगली बिल्ली सवार हो गई उसकी छाती पर नौकरानी जरा बाहर चली गई होगी आवाज सुनी रोने की भीतर आई बिल्ली को हटा दिया कोई नुकसान नहीं हुआ था लेकिन बिल्ली नेपोलियन की छाती पर चढ़ गई थी छह महीने का बच्चा आप जान के हैरान होंगे नेपोलियन जिंदगी भर दिल्ली से डरता शेर से नहीं डरता था बिल्ली से डरता और ये जान के आप और भी हैरान होंगे जिंदगी में सिर्फ एक बार नेपोलियन हारा और जिस युद्ध में हारा उसमें नेल्सन उसका दुश्मन सत्तर बिल्लियां फौज के सामने बांध के लाया हुआ है और जैसे नेपोलियन ने बिल्लियां देखी उसने अपने बगल के सेनापति को कहा अब तुम संभाल लो मेरी हिम्मत टूटती क्योंकि मैं जानता हूं बिल्ली से डरने की कोई जरूरत नहीं लेकिन मैं अवश्य बिल्ली दिखती बस मेरा सबको सवाल हो जाता है राजनीतिक कहेंगे कि नेल्सन ने हराया मनोवैज्ञानिक कहेंगे बिल्लियों ने हराया अब सच में बिल्लियों ने ही हराया नेल्सन की ताकत नेपोलियन को हराने की नहीं छह महीने की उम्र में बिल्ली का छाती पर बैठना इतना बड़ा संस्कार ला सकता है कि सारी मनुष्य जाति का इतिहास दूसरा हो अगर नेपोलियन जीतता इतिहास दूसरा होता नेपोलियन हारा इतिहास दूसरा हुआ एक छोटी सी बिल्ली का एक बच्चे की छाती पर चढ़ना करोड़ों वर्षों के लिए मनुष्य जाति के इतिहास को बदल देगा इतनी छोटी घटना अगर हमें एक धार्मिक समाज पैदा करना हो तो मां के पेट में गर्भ के क्षण से लेकर बच्चे का प्रतिदन प्रति क्षण पल कैसे विकसित हो कैसे उसके आसपास की सारी हवा हो किस दिशा में उसकी चेतना के द्वार खोलने के लिए हम साथी बने और किन गलतियों से हम बचे क्या हम उस पर न छोड़ते तो मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी पर क्यों कौन सा कारण है कि एक अच्छी दुनिया एक आनंद से भरा हुआ जगत पैदा न हो सके लेकिन पुरानी भूल छोड़ देनी होगी धर्म झूले से शुरू होता है और पुरानी भूल जाती धर्म जब कब्र में एक पैर उतर जाए तब तब शुरू होता है कब्र पे धर्म शुरू नहीं होता झूले से शुरू होता है झूले से ही शुरू करना पड़ेगा और अगर ये हमें स्मरण के साथ साफ हो तो हम व्यक्तित्व को विकसित होने में चेतना को एक दिशा लेने में सहयोग हो सकते हैं लेकिन ये तो आने वाले बच्चों की बात हुई आप अब दोबारा फिलहाल बच्चे नहीं होने को थोड़ा वक्त लगेगा मरने के बाद फिर हो सकते हैं अभी आप क्या करेंगे आज का क्षण ही शुरुआत होनी चाहिए ये मत सोच लेना कि अपने झूले के दिन तो निकल गए बात खत्म हुई अब जब दोबारा झूला मिलेगा तब सोचेंगे आपके लिए तो आज अभी ये क्षण प्रारंभ हो जाना चाहिए जिंदगी को अगर आनंद शांति और सत्य की तरफ ले जाना है तो ले जा सकते हैं थोड़े श्रम की जरूरत है बिना श्रम के कुछ भी उपलब्ध नहीं होता और परमात्मा जैसी परम संपत्ति को हम सिर्फ हाथ जोड़ के पाना चाहते हैं तो नहीं मिल सकता न कोई गुरु देगा न कोई शास्त्र देगा न कोई मंदिर मस्जिद दे सकता है आपको आपको ही पाना पड़ेगा आपको भी थोड़ा श्रम करना पड़ेगा उस श्रम के लिए मैंने इन चार दिनों में कुछ बातें की हैं आपने उन बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना है परमात्मा करे उन्हें आप इतनी ही शांति और प्रेम से कर भी सके क्योंकि तो सुनना व्यर्थ है अगर उसके पीछे कुछ किया ना जा सके प्रभु से प्रार्थना करता हूं बल दे संकल्प दे क्या एक कदम कम से कम एक कदम उठा सके प्रभु की तरफ और ध्यान रहे जो एक कदम उसकी तरफ उठाता है वो हजार कदम हमारी तरफ उठाने को हमेशा तैयार मेरी बातों को इतनी प्रेम और शांति से सुना उससे बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सबसे भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूँ मेरे